समाध्यायस्य द्वितीयमन्त्रः पठिष्यते व्याख्यापति च आज यजुर्वेद का इक्कीसवें अध्याय का तीसरा मंत्र कहा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी ओम एकादस्य महिमा तो जायास्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवे यह सब सूर्य चंद्रादि लोक रूपांतर चराचर जितना जगत है वह सब चित्र विचित्र रचना के अनुमान से परमेश्वर के महत्व को सिद्ध कर उत्पत्ति स्थिति और प्राय रूप से तीनों काल में खतरे बढ़ने से भी परमेश्वर के चतुर्थांश में ही रहता किंतु ईश्वर के चौथे अंत की भी अवधि को नहीं पाता और ईश्वर के सामर्थ्य के तीन अंश अपने अविनाशी मुख्य रूप में सदैव रखते हैं इसका से ईश्वर का अनंतपन नहीं बिगड़ता किंतु जगत की अपेक्षा उसका महत्व और जगत का न्यूनत्व जाना जाता है इसी वेदत स्वास्थ्य है प्रमाण के आधार पर ईश्वर के विषय में भ्रांति को और संशय को हम कैसे दूर कर सकते हैं ये मंत्र से देना चाहिए से महिमा एतावान का अर्थ है इतनी एतावान का क्या अर्थ है अस्य इसकी महिमा बड़ापन क्या समझे आप एतावान अस्य महिमा क्या अर्थ हुआ इतनी बड़ी इसकी महिमा का अर्थ है ये पूरा संसार रचना इतनी बड़ी अतो ज्ञायाश्च पुरुष पुरुष शब्द का अर्थ है ईश्वर पुरुष शब्द से जीवात्मा का भी ग्रहण होता है और पुरुष शब्द से ईश्वर का भी ग्रहण होता है जिस जिस प्रकरण में जैसे गुण कर्म स्वभाव हो जीव के हो तो पुरुष से जीव को लेना चाहिए और ईश्वर के हो तो ईश्वर को लेना चाहिए एतावान अश्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुष इतनी बड़ी इसकी महिमा है और इससे भी महान ईश्वर है इस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये हमको बहुत बड़ी दिखाई देती भारत से चलो अमेरिका कहां पर है बहुत बड़ी सी दिखती है ऐसा पर फिर सूर्य के सामने इसको रखते हैं तो वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार ये कितने लाखों गुना बड़ा तेरह लाख कितने लाख गुना बड़ा ऐसी भूमिया उसमें इतनी आ गया इतना बड़ा सूर्य एक सूर्य की चर्चा है और वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार जितने खोजे गए सूर्य एक सूर्य हमारे इस पृथ्वी से संबद्ध है और तो उन्होंने जो सूर्य खोजे हैं ऐसे ऐसे सूर्य एक आकाश गंगा में एक अरब सूर्य खोजे हैं एक अरब कल्पना करिए खोज चुके हैं इतने तो एक अरब सूर्य तो एक सूर्य के पीछे एक पूरा परिवार पृथ्वी उसका ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है ऐसे प्रत्येक सूर्य का ग्रह उपग्रह सब परिवार है तो दस अरब के सारे परिवार को इकट्ठा करें कितना होगा फिर ऐसी ऐसी आकाश गंगा जो दस अरब खोज डाली होगी आकाश गंगा अब आगे का वो पता नहीं लगा पा रहे अर्थात इतने और यंत्र उनके पास में नहीं है आगे खोज की जा सकती ये उनके बस की बात नहीं है इसे ये दिखता है वो भी मानते हैं कि हम इसका पता नहीं लगा सकते ये कहां तक है ये संसार जिसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं अंधेरे में या जंगल में खड़े होकर देखिए एक लंबा चौड़ा बम्बी के बाजार की तरह ऐसे बाजार दिखाई देगा सघन तारे दिखाई देंगे उस श्रेय से जाके छुएंगे भूमि को और उस सिरे तक देखी कभी आकाश अपने अंधेरे में उसमें अनेक आकाश गंगा और ऐसा मानते हैं कि एक आकाश गंगा की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि एक किनारे से प्रकाश चले तो लाख वर्ष में दूसरे किनारे पर जाएगा कल्पना नहीं कर सकता कोई जबकि एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर गति है प्रकाश की एक सेकंड में ध्रुव तारा लगभग 30 35 वर्ष में उसका प्रकाश पहुंचता है इतनी दूर माना जाता है अपनी भूमि पर जो उत्तर में उत्तर भाग में होता है अपना ध्रुव तारा तो एतावान से महिमा इसकी रचना बड़ा पर इतना बड़ा है आप देख लो अच्छी तरह से अतो ज्यायाश्च पुरुष और पुरुष जो है इससे बहुत बड़ा है श्रेष्ठ पादो अश्य विश्वाभूतानी पाद शब्द का अर्थ होता है भाग अंश पाद पादो अस्य विश्वाभूतानी विश्वभूत पृथ्वी चंद्रमा लोक लोकांत ये पूरे के पूरे परमात्मा के एक भाग में रहते हैं इससे क्या समझ में आया ये इतना लंबा संसार इतनी बड़ी सृष्टि परमात्मा के एक भाग में रहती और खादी पड़े कल्पना कर दी चार भागों को कल्पना से समझाने की दृष्टि से चार बात किए गए <clears throat> तो उसमें परमात्मा के चार भाग किए गए तीन भाग खाली है उनमें केवल परमात्मा है क्या समझ में आया तीन भाग में केवल परमात्मा उनमें केवल परमात्मा न प्रकृति है न जीवात्मा है न सूर्य चंद्रमा है खाली और एक अंश में ये अरबों खरबुज की गणना कर नहीं सकता दूसरा व्यक्ति वो भगवान के एक कोने में रहता है इतना बड़ा ईश्वर है वैज्ञानिक लोग बेचारे उलझ के खड़े हुए कि ऐसा पदार्थ कैसे हो सकता है ऐसी कोई वस्तु कैसे हो सकती है जिसका कहीं सिर पर दिखाई नहीं देता इतना लंबा और ऐसे इसकी कल्पना की जाती है वैज्ञानिक के हमारे दिमाग में नहीं सकती है बात कुछ लोग कहते हैं अपनी स्वतंत्रता से और जो अपने को वास्तविक कहते हैं ईश्वर को मानते हैं उनका दिमाग चकराया यहां पर कि जैसे ये ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव थे उन्होंने वैसा ईश्वर को नहीं समझा उन्होंने ईश्वर जैसा नहीं था वैसा समझ लिया अब क्या समझ में आया आपको कैसे बात उसका उदाहरण क्या बनेगा तो जैसा ईश्वर नहीं था वैसा ईश्वर उन्होंने मान के खड़ा किया वास्तविक ईश्वर को नहीं समझ पाए इसलिए जैसा ईश्वर नहीं था वैसा उन्होंने मानना आरंभ कर दिया इसलिए सभी संप्रदाय वाले बेचारे भ्रांति में पड़े इनमें हटता न हो आग्रह न करे और वेद की बात सुन ले तो इनको समझ में आ सकता कि हटता हाँ, करेंगे आग्रह करेंगे तो सदा भ्रांति में रहेंगे कोई लाभ इनको होने वाला नहीं हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं सबके दिमाग में ईश्वर है ये तो बैठा फिर वो गलत रूप में बैठ गया और गलत की पूजा करते हैं गलत ईश्वर को मानते हैं तो ऐसी पूजा करने से इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं जुड़ा ईश्वर से अपना जीवात्मा का संबंध जैसा जुड़ना चाहिए था वो कुछ नहीं जुड़ा तो जीव जीव की उन्नति जो होनी थी ईश्वर के साथ जुड़ने से वो रुक गई इसलिए वहां पर महापुरुष उत्पन्न नहीं होते इन संप्रदायों में गलत ईश्वर को माना जाता है गलत पूजा होती है गलत ईश्वर की गतिविधि बताई जाती है उन संप्रदायों में जीवात्माओं का संबंध ईश्वर से कट जाने के कारण महापुरुष उत्पन्न ऋषि योगी उत्पन्न नहीं होते ये कारण है जैसे कि वैदिक परंपरा में ऋषि आए उन्होंने ग्रंथों की रचना की है उससे भी पता चलता वैसा इन लोगों में एक भी नहीं पादो अश्य विश्वाभूतानी त्रिपाद अश्य अमृतम देवी तीन पाद अमृत ईश्वर के खाली हैं ऐसा ईश्वर है आप भी ऐसे ईश्वर को निर्णित रूप देने के लिए जमेंगे तो मानसिक स्तर पर घबराहट हो सकती है एक तो इसको कैसे माने ऐसा ईश्वर है परंतु अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण आपको सहयोग देगा शब्द प्रमाण के आधार पर आप ईश्वर का निर्णय कर ले अनुमान प्रमाण के आधार पर ईश्वर का निर्णय कर लेंगे ध्यान देना है कि जिन ऋषियों ने ईश्वर का वर्णन किया है वेद मंत्रों को लेकर उपनिषदों में दर्शनों में स्मृतियों में वो ईश्वर का वर्णन क्या उन्होंने कुछ झूठा कर दिया यदि झूठा किया है तो कारण क्या है कारणों की खोज करते हुए जब चलते हैं तो कारण कोई उपलब्ध नहीं होता कि ऋषियों ने झूठा वर्णन किया इसका कोई कारण नहीं कारण नहीं है तो वस्तुतः उनका वर्णन सत्य है शत प्रतिशत ठीक है हमारी समझ में नहीं आया आज यही भूल है पर उसमें यह जो भूल जुड़ गई इसको हटाना भी अनिवार्य होगा कैसी भूल है हजारों मंदिरों में जाओ आप भिन्न भिन्न मंदिरों में भिन्न भिन्न ईश्वर की कल्पना करके खड़ी कर दी जैसा ईश्वर हो ही नहीं सकता ऐसा बना के खड़ा कर दिया वहां और उन करोड़ों लोगों में मानने के लिए तैयार नहीं लड़ने के लिए जरूर तैयार नहीं दिमाग से काम बिल्कुल नहीं हो रहा पिछले दिनों जब दिल्ली में मूर्तियों को दूध पिलाया जा रहा था ऐसा लोग मानते हैं उस समय लोगों ने अडोस फोर्स के लोगों ने कहा कि आप कभी नहीं मानते थे कि ऐसा हो सकता है आज इनकी महिमा इनका चमत्कार देखो चल के देखो दूध ले चलो आपको दूध देते हैं और पिलाव देखो की जाती है मूर्ति तो मैंने कहा आप कुछ भी कहते जाइए मैं अभी बताता हूं यहां खड़े खड़े ये तीन काल में झूठ मिलेगा आपसे मैं चलू न चलू इसमें कोई संदेह नहीं पर पंक्ति कैसी लगी थी भीड़ मची हुई थी जगह मिल नहीं रही थी जो है लंबी कथा है तो देश विदेश में शोर मच गया है कि मूर्तियां दूध पी रही हैं तो कौन लोग थे जो दूध पिला रहे थे ये कौन लोग थे जो दूध पीने को सत्य सिद्ध कर रहे थे ये कौन लोग थे कि जो दूध को मिट्टी में डाल करके कहते थे मूर्ति पी रही है ये सब ईश्वर को गलत मानने वाले थे इतना मिथ्या ज्ञान सारा भारत ही अंधकार में घूम रहा ईश्वर के विषय इसी को भी इतना दिमाग नहीं पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती अब इन्होंने कल्पना की है भगवान पत्थर की मूर्ति में अवतरित होकर दूध पी लेता है ऐसा है हमारा ईश्वर क्या समझे आप क्या समझ माया बोले इन्होंने क्या कल्पना कर रखी है भगवान सर्वशक्तिमान है वो सर्वशक्तिमान होने से मूर्ति में आकर के मूर्ति में अवतरित होकर के वो दूध पी सकता है उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं अब दूध ही नहीं पी सकता तो क्या भगवान हुआ तो सर्वशक्तिमान नहीं रहा क्या सर्वशक्ति मत्ता ये दिमाग इनका काम बिल्कुल नहीं करना कभी वैदिक परिवार में जन्म लेंगे हो सकता है इनका दिमाग ठिकाने हो जाए आप भी अपने दिमाग को खुले ढंग से सुन लो समझने का ढंग है पद्धति है मैं तो ऐसे ईश्वर को सुन करके हमको आश्चर्य में पड़ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्यों माने ऐसे ईश्वर को और न ही ऐसे ईश्वर को सुन के हमको उल्टा सीधा ईश्वर मान लेना चाहिए ये भी ठीक नहीं हमारे लिए ये उल्टा सीधा ईश्वर है जैसे कोई कहे ईश्वर चाहे जो कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि सर्वशक्तिमान है तो ये ठीक है या नहीं है हाँ जी ठीक है आपने इसलिए समझ लिया कि ऋषियों की परंपरा को आपने सुना है पढ़ा है महर्षि सिद्धांत के ग्रंथ पढ़े इसलिए आपको कुछ समझ में आई बात नहीं तो नहीं आती हजारों लोग हैं पढ़े लिखे करोड़ों लोग उनको कुछ भी समझ में नहीं आता एमईडी पीएचडी को समझ में नहीं आता वो भाई खड़ा पंक्ति में दूध ले और घर पर आके कहता मैं पिला के आया हूं आप अभी गिलास ले लो एक चम्मच में पानी भर लो और चम्मच को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी का भाग चम्मच में लगा दीजिए आप ऐसे गिलास को गिलास पानी को ऐसे खींच लेता है जैसे वो पी रहे आप सारा पानी खींच जाएगा तरल पदार्थ को जिस और झील है थोड़ी सी ऐसा छू दो वो एकदम वो चीज खींच लेगी उसको और वो खींचता चला जाए कुछ भी नहीं हो प्रयोग करके भी दिखाई वैज्ञानिकों ने भी दिखाई समाचार पत्रों में सारा बहुत अच्छी तरह लिख, लिखा बिल्कुल सोना नहीं झूठ है तो ये बात वहां समझी जा रही है जैसा ईश्वर नहीं है ऐसा मत मानो ईश्वर को क्या समझे आप जैसा ईश्वर नहीं है वैसा ईश्वर को नहीं मानना चाहिए जैसा ईश्वर नहीं है ऐसा ईश्वर को हम मान के चलेंगे तो ईश्वर क्या हमारे साथ में कोई संबंध नहीं जुड़ेगा ये हानि है कल्पना करिए कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत के लाल किले के विषय में कुछ सुना इधर उधर है कोई सुनाने वाला भी ऐसा ही था बिना पढ़ा लिखा अथवा बिना जानने वाला उन्होंने कहा कि दिल्ली का लाल किला इस झोपड़ी जितना है ये झोपड़ी जो बना रखी खेत में इतना लंबा इतना चौड़ा इतनी चार पाई आ सकती है उसमें छप्पर डला हुआ है इसी का नाम दिल्ली का लाल किला है क्या समझिए आप हाँ वो अमेरिका से योजना बना के चला मैं दिल्ली के लाल किले का इतिहास पढ़ते हैं ताकि देखूं क्योंकि नींद तो नहीं आई किसी को क्या, क्या सोचा उसने अरे नींद न नींद क्यों आती है वो पुस्तक में लिखे हैं आपने काल पढ़े यानी कहीं पुस्तक में लिखे है ना उसको हटाने के लिए उनका उपयोग करो तो वो भारत पहुंचता है भारत के रेल आदि के माध्यम से वो चलता चलता लाल किले की खोज करता है दिल्ली में ढूंढता है दिल्ली के उस यमुना के किनारे पर लाल किला माना जाता है और वो खूब खोज करता है दस वर्ष पंद्रह वर्ष भी कर लेता है और को किसी को पूछता नहीं आप बताइए लाल किला मिलेगा उसको क्यों नहीं मिलेगा जैसा लाल किला नहीं है वैसा बांध की खोज कर रहा है जिसने इतिहास को पढ़ा है भूगोल को पढ़ा जैसा लाल किले का स्वरूप है वैसा गुरु जी ने पढ़ाया और वो अमेरिका से चल के आया आते ही लाल किले का आकार प्रकार जट जान लिया उसने ये शब्द प्रमाण के आधार पर उसने लाल किले की खोज कर ली इसी प्रकार से जो वेद और दर्शन है उन्होंने बताया ईश्वर ऐसा है और उन्होंने यह भी बताया ईश्वर ऐसा नहीं है उदाहरण के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात उठाई ईश्वर सर्वशक्तिमान क्यों है हम भी सर्वशक्तिमान मानते हैं दूसरे लोग भी सर्वशक्तिमान मानते हैं पर अंतर क्या पड़ा स्वामी जी ने कहा सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ यह है कि जो कार्य हो सकता है उसको ईश्वर अपने नेम में रह करके स्वयं कर लेता है दूसरे की सहायता नहीं लेता इसलिए ईश्वर सरस्वतीवान है हो सकने वाले कार्यों को अपने नियम में रह करके बिना दूसरे की सहायता के जो कर सकता है उसका नाम है सर्वशक्तिमान दोहराइए क्या समझे आप हो सकता है सहायता से स्वयं कर सकते हैं ये परिभाषा है दूसरों ने अर्थ किया नहीं हो सकने वाले को नहीं सभी कार्यों को चाहे कोई भी कार्य हो उसको वो सबको कर सकता है उसका नाम है सर्वशक्तिमान बस यहीं पर विरोध खड़ा होगा वेद की बातें जुड़ गई स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात उठाई उसका भाव सुनी उसने कहा कि आप ये बताइए यदि सर्वशक्तिमान शब्द का यह अर्थ है तो ये बताइए क्या ईश्वर अपने आप को मार करके दूसरे ईश्वर को पैदा कर सकता है वो चुप है उत्तर नहीं दे सकता ये हो ही नहीं सकता अपने को ईश्वर मार देवे और नया ईश्वर पैदा कर दे क्या समझे आप हो सकता है क्या हो ही नहीं सकती जो बात उसको क्यों खाम का ईश्वर के साथ जोड़ रहे हो कोई कहे कि पृथ्वी बनाई सूर्य बनाया अरबों बिना कार्य के बना दिया इनकी अकल ठिकाने नहीं आई सारे संप्रदाय बड़े बड़े हैं ना वह बना दिया ईश्वर कहा से अपने अंदर से बना दिया ध्यान दो जिसको हम परमाणु बोलते हैं उर्दू में उनको जर्रे बोल देते हैं वैज्ञानिक दूसरा नाम ले सकते हैं जिन कणों से भूमि बनी है जिन कणों से पानी बना है जिन कणों से अग्नि बनी है उन कणों के बिना परमात्मा एक पत्ता भी नहीं बना सकता क्या समझे आप बोलो क्या समझ माया नहीं आ समझ सामग्री की कोई चीज नहीं बन बिना उपादान कांड की सामग्री की परमात्मा कुछ भी नहीं बना सकता कितना अच्छा पाचक हो माताएं हो भोजन बनाने वाली आटे के बिना रोटी कोई नहीं बना सकती बहुत अच्छा इंजीनियर है पर कितना अच्छा इंजीनियर हो सीमेंट आदि जगह भाकड़ा का बांध सारे इंजीनियर मिलकर नहीं बांध सकते दुनिया भर के इंजीनियर को बुला दो एक पुली नहीं बांध सकते उसकी भाकड़ा के बांध के तो दूर बात एक छोटी सी मोरी पुली नहीं बना सकती सारे बिना उपादान कारण के बिना सीमेंट के बिना उसके बना ही नहीं सकता की बातें करते हो हां इतनी बड़ी प्रकृति को लेकर के इतनी परमाणुओं को लेकर के सत्वर अगर कम को लेकर जिसने अरबों खरबों लोग बना दिए वो ईश्वर की सर्वशक्ति मत्ता है कोई नहीं बना सकता सारे दुनिया के लोग मिलकर के भी एक सत्ता नहीं बना सकते अब परमात्मा ने शक्ति बनाई है तो ईश्वर को ऐसा समझना चाहिए अब मेरा आत्मा और मन दिया शुद्ध होते पवित्र होते समाज होते उसका नाम संस्कार है आत्मा का संस्कार कैसे किया जाए आत्मा के साथ किन मलिनताओं का किन गोराइयों का संसर्ग होता है आत्मा की अपवित्रता क्या है आपने सुना है आत्मा निर्देप है इसका एक अभिप्राय हुआ आत्मा को कोई ले संसर्ग नहीं लगता आपका यदि परीक्षण किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि आत्मा निर्लेप है तो आत्मा को अविद्या भी नहीं छू सकती आत्मा को बुरा आचरण भी नहीं छू सकता आत्मा को अशुद्ध खाया हुआ भोजन भी नहीं छूता तो आत्मा अपवित्र कैसे हो जाएगा तो आपको शायद पता नहीं चला अपवित्र कैसे हो जाता आपने कभी आत्मा के अंदर उनका प्रवेश होते हुए देखा जैसे घर में प्रवेश होते नहीं तो पता कैसे चला तब पता चलता कर्म कर्म से पता चलता है क्या नहीं सत्य कर्म है या सही आचरण है आचरण से कर्म से पता चलता है मनु महाराज ने लिखा है क्या अब गिरगात्राणी शुद्धि मन सत्य न शुद्धि विद्या भ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान में शुद्धि ये जलाती पदार्थों से हमारा शरीर शुद्ध होता है सत्य बोलने व्यवहार से जो है हमारा मन शुद्ध होता है विद्या ज्ञान विज्ञान और तप से भूतात्मा जीवात्मा शुद्ध होता है बुद्धि ज्ञान में शुद्ध की तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा आत्मा को छेड़ना विद्या और तप के माध्यम से आत्मा शुद्ध होता है तो अशुद्ध किससे होगा अविद्या से तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि आत्मा जो है अविद्या से अशुद्ध होता है ये एक बात इस अज्ञानता को या आत्मा की अशुद्धि जिससे होती है वो व्यक्ति इसको जानता है वह अपनी शुद्धि कर सकता है जो व्यक्ति ये नहीं जानता मैं आत्मा किस अज्ञान से अशुद्ध हो जाता हूं वह आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकता अब दर्शनकारों से हम लाभ उठाए समझ रखिए सैकड़ों विषयों में हम गवेषणा करते जाते हैं और वेद के दर्शन ऋषियों के बनाए ग्रंथ उनको हम पढ़ते हैं देखते हैं तो उन विषयों का निर्णय वहां पर मिल जाता नई कोई नवीन गवेषणा अनेक विषयों की नहीं करनी पड़ी तो ऋषि ने कहा कि संसार के लोगों आत्मा जिससे बंधन में पड़ता आत्मा जिससे अधर्म आचरण करता आत्मा जिससे पशु पक्षी बनता आत्मा जिससे कलेशों को भोगता आत्मा जिससे चोर डाकू बन जाता आत्मा जिससे पतित बन जाता है वह अविद्या नाम की अशुद्धि है क्या समझ में अविद्या अपवित्रता है आत्मा अभी ये जो विश्व का विकृत रूप है पशुवत प्रवृत्ति है भेड़िए की भांति मनुष्य बिचरते इसके मूल में अज्ञान अशुद्धि ये काम करती है और कुछ भी नहीं मानव जाति का विनाश होता जाता है आगे विनाश की ओर मानव जाति सरकती जाती है और मानव जाति के मूल में अज्ञान नाम का एक तत्व है वो सारी मानव जाति को अन्याय अधर्म कुकरण डाके चोरी शराब आचारहीनता जितनी भी बुराइयां हैं उसके मूल में अज्ञान नाम की चीज है इसलिए दर्शनकार ने एक सूत्र बनाया ज्ञानात मुक्ति क्या बनाया ज्ञानात मुक्ति क्या और बंधो भी प्रिय याद विपर्य से बंधन या विपर्य नाम है अज्ञान का ये संकेत कारण संकेत ज्ञानात्मक ज्ञान करने से भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान सबका ग्रहण होगा और सच्चा ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं हमारे क्रिया रूप में आने वाला ज्ञान जब होता है तो ऋषि कहता है ज्ञानात्मुक्ति होती हम दुख से छूटना चाहते हैं और नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं ऋषि ने कहा यदि ऐसा है तो ज्ञान आत्मुक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो मुक्ति हो जाएगी फिरते मिलेंगे बंधन किससे होता है बंधु विप्रिय या बंधन जो होता है वो विप्रिय से होता है विपरीय यह नाम है अज्ञान अब एक दूसरे दर्शन कार्य का विभाजन करेंगे ये विपरीय मुख्य रूप में कहां होता है यो तो ज्ञान और अज्ञान की कोई सीमा नहीं क्या समझना ज्ञान और अज्ञान की कोई सीमा नहीं पर ऋषि ने क्या किया ऋषि ने यह किया कि ऐसे क्षेत्र निर्वाचित करता हूं जिस क्षेत्र में अज्ञान रहेगा तो बंधन निश्चित होगा और उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तो बंधन नहीं होगा मोक्ष ऋषि ने हमारे लिए उपकार करें क्या किया ऋषि जिस जिस क्षेत्र में अज्ञान रहता है अविद्या रहती है वो कुछ क्षेत्र निर्वाचित करूंगा बतलाऊंगा ऐसे और उस उसमें रहने वाले ज्ञान का तुम नाश कर देना परिणाम बंधन की परिसमाप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ऋषि ने हमारे लिए यह मान रखा है समस्त पत्ते पत्ते का ज्ञान ज्ञान हमने जान सकते ना ज्ञान कराया जा सकता न बताया जा सकता ये बात अब उसने योग सरकार ने एक सूत्र बना दिया कि चार क्षेत्रों को याद कर लो संसार के पत्ते पत्ते पर घूमने की आवश्यकता नहीं है आज का भौतिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया पर उसको ज्ञान ज्ञान का वो विभाजन नहीं करना आया कि इतने क्षेत्रों में अज्ञान है और उस ज्ञान का नाश करना है फिर हमारे लिए सफलता मिलेगी वो ये विभाजन नहीं कर पाया वो ये सोचता हम प्रत्येक विषय में अज्ञान को उखाड़ के देंगे क्या किया उसने प्रत्येक पदार्थ से संबद्ध अज्ञान को उखाड़ के हैं पर ऐसा होगा नहीं एक डॉक्टर अच्छे से बुद्धिमान तीव्र बुद्धि का व्यक्ति देखेंगे वो 20 तीस वर्ष लगाता है एडी से चोटी तक का जोर लगाता है आंख के विषय में पूरा नहीं बता सकता कान के विषय में पूरा नहीं बता सकता नाक के विषय में पूरा नहीं बता सकता आप एक एक अंग की कल्पना कर लीजिए वो क्या सारे विषय हो जाएगा जान ही नहीं सकता कोई सभी विषयों में जानने वाला पूर्ण विद्वान केवल ईश्वर ही है और कोई न हुआ न है न होगा इसलिए ऋषि ने एक महान उपकार किया कहने के लिए ऋषि देखो चार क्षेत्रों को ढूंढ लो चार क्षेत्रों में ज्ञान रहता है जिससे जीवात्मा अपवित्र होता है उन्होंने कहा एक क्षेत्र है जो अनित्य पदार्थ हैं उनको व्यक्ति नित्य मानता है क्या समझ रहा है अनित्य पदार्थ को नित्य मानना इसका उल्टा करो जो नित्य पदार्थ है उनको अनित्य मानता है एक विभाग पूरा हो गया दोहरा लो अनित्य को नित्य मानना अनित्य पदार्थों को व्यक्ति अनित्य मानता है हाँ है नित्य पदार्थ को व्यक्ति नित्य मानता है और नित्य पदार्थों को नित्य मानता है एक विभाग जिससे बंधन होता है जीवात्मा अपवित्र होता है दूसरा विभाग जी ने कहा जो अशुद्ध पदार्थ है अशुद्ध आचरण है उसको व्यक्ति शुद्ध पदार्थ शुद्ध आचरण मानता है जो शुद्ध पदार्थ है शुद्ध आचरण है उसको अशुद्ध मानता है दोहराइए दूसरा विभाग क्या था और शुद्ध आचरण और शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध मानना ये दूसरा विभाग है तीसरे विभाग में ऋषि ने कहा जो दुख है उसको वो सुख समझता है वो जो सुख है उसको वो दुख समझता है दोहराइए चौथा विभाग है जो जड़ पदार्थ है उनको वो चेतन मानता है और जो चेतन पदार्थ है उनको वो जड़ मानता है क्या समझता है मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो क्या चारों बात आ गई समझ में हाँ नाम उत्तर दिया अरे तो फिर सो जाओ सो गया मेरा पाप हम एक व्यक्ति ने ऐसी भाषा रोचक बनाई थी कैसे कल्पना की होगी या हो गई और घटना में पता उसने बनाई भाषा एक सन्यासी था एक नगर गांव में रात्रि को ठहरा लोगों ने कहा आज सन्यासी से उपदेश सुनेंगे लाभ उठाएंगे और कहने लगे सारे मिलकर चलो महाराज जी कुछ तो उपदेश दो तो सन्यासी कहने लगा भाइयों बहनों आप ये जानते मानते हैं भगवान है उन्होंने कहा हम सब जानते मानते हैं कि भगवान है उसने कहा जो तो ऐसा जान लिया मान लिया तो और उपदेश दुनिया में है नहीं कोई जाओ उसको जाओ तो सो गए जी ये खाम खा सबको टाल मटोल कर दी बड़ा बिजी परेशान दूसरे दिन तैयारी करके गए कहेंगे जी आज तुम ये कहना हम भगवान को बिल्कुल नहीं जानते मानते हमने निर्णय कर हाँ, तो ये कहेंगे अच्छा फिर तो निर्णय हो ही गया आपका तो भगवान है ही तो फिर भी कोई आवश्यकता नहीं अपने निर्णय कर तो तीसरे दिन रहे थे भाई बात ऐसी है ये आपके ये सन्यासी उपदेश के लिए अग्रसर नहीं हुआ आज ऐसे करना आज ही ये कहना हम जानते मानते हैं आज ही ये कहना हम नहीं जानते तो आज उन्होंने कहा कि हम जानते मानते हैं आज उन्होंने कहा हम नहीं जानते मानते तो सन्यासी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है जो नहीं जानते मानते उनको जो तो जानते मानते उपदेश देना तो ये तो बात मैंने इसलिए सुनाई कि रोचकता हो नींद नहीं आए और इसमें एक रहस्य भी वो गंभीरता से देखने से पता चलता है वो ये होता है कि व्यक्ति शब्दों को जान करके ये भ्रम न कर लेने के मन जाएगा ये रहस्य है दृष्टांत शब्द समझाने के लिए रोचक बनाने के लिए लोगों का मन बुद्धि ठीक काम करती रहती है परंतु इसका सार ये है कि कितने ही व्यक्ति प्राय व्यक्ति शब्द शास्त्र को सुन के और वो ये मान लेते हैं कि हम विषय को समझ गए हैं जबकि विषय समझ में नहीं आ रहा है ये बात इसलिए ये ऋषि बार बार संकेत देते हैं क्या न उपदेश श्रवणे अभी एकतिकृत्यता प्रावृषादरिते विरोचन पद ये संख्यकार प्रकरण को छेड़ता है और बार बार इस बात को फिर दोहरा देता है फिर दोहरा देता है इस सूत्र में कहने लगे भाई सुन मैंने बहुत वर्णन किया है पुरुष क्या है प्रकृति क्या है अज्ञान क्या है बंधन सब कुछ मैंने वर्णन कर डाला पर सावधान हो न उपदेश सर्वणे केवल उपदेश सर्वणी सर्वण से कृत का सफलता नहीं मिलती ये कहना है न उपदेश सर्वणी अपनी कृत्यता परामर्शाद के विरोचन वक्त बिना श्रवण मनन निधि ध्यान किए बिना कोई भी व्यक्ति कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर पाता उसके लिए कथा का जो खंड जोड़ा गया वो थोड़ा सा सुनाऊ एक कथा आती है जहां तक मैं याद रखता हूं प्रजापति नाम के महान व्यक्ति थे वो ब्रह्मविद्ता होंगे ऐसी स्थिति देखती है तो उसने घोषणा की थी जो परमात्मा को जान लेता है अच्छी तरह पहचान लेता है वो निश्चित रूप से कृत्य हो जाता है ये ब्रह्म विद्या अच्छी विद्या है उसने जब ये घोषणा की तो बताया गया कि दो तरह के अपने लोगों के समुदाय थे एक था देवों का एक था असुरों का और उन्होंने दोनों दलों ने अब अपना एक एक प्रतिनिधि भेजा ये प्रजापति ने एक घोषणा की है जो ब्रह्म विद्या को जान लेता है ईश्वर को पा लेता है वो कृष्ण हो जाता है विरोचन नाम का व्यक्ति असुरों के दल से गया और इंद्र नाम का व्यक्ति देव के दल से वहां पर उपस्थित हो गए प्रजापति के पास प्राचीन काल में परंपरा रहती थी कि बहुत परीक्षण करते थे लंबे काल तक तप करना पड़ता था तो अधिकारी ज्ञान मान लेने के पीछे उसको ब्रह्म विद्या सिखाई जाती थी तो गए थे तो प्रतिनिधि के रूप में भी बड़े होके गए हैं तो थे वो आप अपने कर्म में अग्रणी होंगे इसलिए उनको भेजा गया होगा उन्होंने कहा कि बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो वेद वेदादारी में जो परंपरा थी इसको पढ़ो आदेश का पालन करो और इस विद्या को सीखो ऐसे सिखाते सिखाते सिखाते जब बत्तीस वर्ष हो गए तो विरोचन के बाद समझ में कुछ ऐसी आई ये शरीर ही सब कुछ है यही आत्मा है इसी में खूब खाओ पियो मजे करो और इसी से व्यक्ति कृत्य होता है और उन्होंने कहा कि जी मैंने आत्मा को समझ लिया है ये शरीर ही आत्मा है ये सब कुछ है इसी के कारण से व्यक्ति कृत्य हो जाता है और वो चला और अपने कल में जाके कहा भाइयों सुनो मैं सीख के आ गया हूं खूब खाओ खूब के मारो खूब सो जाओ इसी के सारे कोई और पंथा मारे नहीं इंद्र से पूछा गया आप सुनाइए इंद्र नहीं जी महाराज जी उसने तो आत्मा इसी को मान लिया ये तो नाशवान है ये क्या आत्मा ये मैं नहीं जानता ये तो मुझे समझ में नहीं आता उनका कि बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करो फिर ऐसे ही सीखो तो बत्तीस वर्ष उसको फिर ब्रह्मचारी का पालन करना और भाग्य जो नियम थे फिर कहने लेकिन मुझे अब भी समझ में नहीं आया कहेंगे बत्तीस वर्ष तक थे ट्वेंटी थ्री बना और आदेश का पालन करो कितने बत्तीस तीन बत्तीस कितने हो गए फिर कहने लगे आप बताइए कहने के अब मुझे आत्मा परमात्मा समझ में आया नहीं उनके पांच वर्ष थे ब्रह्मचारी का कितने हो गए एक सौ एक वर्ष में प्रतिनिधि के रूप में गया विद्वान इस विद्या को सीख पाया था तो आप कितना सीखोगे इसको प्रतिनिधि विद्वान एक सौ एक वर्ष में विद्या सीख के आया तो आप कितने वर्ष में इस विद्या को सीखोगे कौन कौन गिरीश भाई गिरीश भाई वीरेंद्र भाई गिरीश भाई मुंबई नीरज भाई कोई है मुंबई से नितिन भाई नीरज भाई नीरज भाई ईश्वर समय यह अधिकारियों का काम होकर तो एक दिन एक व्यक्ति ने बात पूछ ली क्या थी वो मखौल मिला जिस महत्वपूर्ण हम काम कर रहे थे इसकी कल्पना विश्व तो में नहीं कर सकते पर ये आदत पड़ गई है प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे काम को बिगाड़ना उसका स्वभाव बना पता नहीं क्या जहर फैला भले व्यक्ति होश में आओ आज इस विद्या को वैदिक रीति सिखाने वाली हमारी दृष्टि में कोई मोक्तमय संस्था हो आप बताएं एक भी नहीं मिलेगी अब तक जो हमारी विधि काम करेगी